सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरण ऑफिस की खिड़की से होकर कमरे में आने लगी थी लेकिन अभी तक उसे अपने इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल सका था नैना विक्रांत के टकले पर हाथों से मारते हुए उसका कान खींचने लगी हे हे चुप करो उठो उठो तुम आ, तुम्हें सोने की भी तमीज नहीं है यहाँ सब रात भर से काम कर रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो तुम्हें खरांटे भरने हैं तो यहाँ से बाहर जाओ उठो अब काम करना है उठो यहाँ सोना नहीं है नैना को ऐसा करते देख वहां मौजूद दूसरे पुलिस वाले सन्न रह गए इस पुलिस ब्रांच में विक्रांत के गुस्से से हर कोई वाकिफ है सभी को पता है कि विक्रांत सामने वाले का जो हश्र करता है इसलिए अधिकतर लोग उससे दूरी बनाकर ही रहते हैं सुनिधि भी नैना को ये सब करते देख रही थी उसे डर था कि कहीं विक्रांत उठकर नैना पर भी अपना गुस्सा ना निकालने लगे इसी डर से वो नैना को रोकने के लिए आगे बढ़ी तभी उसने देखा कि विक्रांत ने नैना का हाथ पकड़ लिया है और उसे दूसरी दिशा में मरोड़ने लगा कौन है ये कौन कौन है विक्रांत ने अभी भी अपनी आंख नहीं खोली थी अगले ही पल जैसे ही विक्रांत को यह एहसास हुआ कि ये कोमल हाथ नैना का है तो फिर वो हाथ को बड़े प्यार से सहलाने लग गया अरे नैना क्या चाहिए तुमको विक्रांत को इस तरह टीम लीडर नैना ग्रेवाल के साथ फ्लर्ट करते देख वहाँ मौजूद अन्य सभी इन्वेस्टिगेटर सन रह गए उन्हें विक्रांत के सनकपन से पूरा अनुभव था लेकिन उन्हें कभी ये उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत टीम लीडर नैना के साथ ही फ्लर्ट करने लग जाएगा सुनीति भी विक्रांत के इस व्यवहार को देखकर जल भुन उठी वो नैना की और विक्रांत की तरफ ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगी विक्रांत उठो उठो मुझे कुछ याद आया एक प्लान है मेरे पास उस वक्त नैना विक्रांत की फ्लर्टिंग का थप्पड़ से जवाब देकर अपना वक्त नहीं खराब करना चाहती थी तो उसने डायरेक्ट ही काम की बात कही उधर नैना के इस बात का विक्रांत पर भी तेज रिएक्शन हुआ वो तुरंत ही उठकर बैठ गया बोलो क्या हुआ क्या बात है विक्रांत ने बिल्कुल लाल आंखें लिए हुए नैना से सवाल किया अच्छा फिरौती वाले पैसे ऊपर पहाड़ी से नीचे मिस्टर मलिक ने फेंके थे ना एन ने सवाल किया था हाँ तो तो उस वक्त उन्हें किडनैपर द्वारा वॉकी टॉकी के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा था और मिस्टर मलिक ने अपने बयान में साफ कहा है कि उन्हें किडनैपर की आवाज आज भी अच्छे से याद है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि रमाकांत अग्रवाल और अशोक की वॉइस रिकॉर्ड करके उसे मिस्टर मलिक को सुनाते हैं क्या पता वो आवाज पहचान जाए हम्म ये तो आइडिया सही है विक्रांत ने कहा लेकिन मुझे लगता है कि हमें सिर्फ मिस्टर मलिक के भरोसे इतना ज्यादा होप नहीं करना चाहिए अब भले ही मिस्टर मलिक किडनैपर की आवाज पहचान लेंगे लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा कि हम ये प्रूफ कर पाए कि रमाकांत और अशोक ही असली किडनैपर थे दूसरी बात ये भी है कि जहाँ फिरौती के पैसे मंगाए गए थे वहाँ पर करण मल्हान का घर था तो ज्यादा चांस यही है कि वो ही मिस्टर मलिक से बात कर रहा होगा बहुत कम चांस है कि इन दोनों ने मिस्टर मलिक से बात की होगी नैना हम्म, ने हामी भरते हुए कहा लेकिन कुछ भी हो हमें कोशिश तो करनी ही है वैसे एक बात और भी है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें हम अशोक और रमाकांत को टच नहीं कर सकते ये ये दोनों बहुत पावरफुल हैं और इन्हें जरा सी भी भनक लग गई कि हम इनकी जांच कर रहे हैं तो फिर तो समझ लो हमारा काम और मुश्किल हो जाएगा हम्म ये बात भी है विक्रांत ने भी नैना की बातों से हामी भर दी मुझे लगता है कि हमें इन दोनों के बारे में और कुछ भी पता करने की जरूरत है जैसे हम अगर इन दोनों के साथ आर्मी में रहने वाले लोगों को ढूंढ लें और उनसे इनके नेचर वगैरह जानने की कोशिश करें तो हो सकता है हमें कुछ मदद मिले वहाँ से हमें ये भी पता चल सकता है कि इन तीनों के बीच कैसा रिलेशन था हम्म, सही बात है नैना ने तुरंत जवाब दिया और हमें इनके घर के आसपास रहने वाले लोगों को भी स्टॉक करना चाहिए इन दोनों के पड़ोसी भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और पड़ोसियों को तो इस काम में मजा भी खूब आता है हे भगवान सुनिधि अपनी चेयर पर बैठे बैठे बुदबुदा रही थी ये दोनों कुछ ज्यादा ही नहीं सट रहे इनका कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है लेकिन फिर अगले ही पल विक्रांत का चेहरा उसके सामने आते ही वो सोचने लगी घंटा चक्कर चलेगा उस टकले का हम्म, वो टीम लीडर इतनी सुंदर और ये इतना सनकी और टकलू छी लेकिन इसके साथ ही सुनिधि को गिल्ट भी फील हो रहा था मैं विक्रांत को ऐसा कैसे बोल सकती इस वक्त देव कहीं बाहर से घूमकर ऑफिस पहुंच चुका था उसने हाथ में दो बड़ी बड़ी पॉलीथीन ली हुई थी जिसमें वो सभी पुलिस वालों के लिए ब्रेकफास्ट पैक करवा के ले आया था उसके अंदर आते ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स एक जगह इकट्ठा हो गए और सब मिलकर ब्रेकफास्ट करने लग गए विक्रांत भी खाने के लिए जुट गया था इसी बीच उसका फोन बच पड़ा विक्रांत ने फोन निकाल कर देखा तो ये जिया का मैसेज था जिया ने विक्रांत को बताया कि आज रात को रिजेंसी होटल में उसकी आर्यन के साथ शादी होने वाली है उसने बताया कि ये सब इतनी जल्दी जल्दी में प्लान हो गया कि वो विक्रांत को इनविटेशन कार्ड भी नहीं दे पाई दिया को विक्रांत के नेचर का पता था वो जानती थी कि विक्रांत ऐसी शायद ही शादी में पहुंचे इसलिए उसने विक्रांत से पहले ही कह दिया था कि अपनी ब्रांच के सभी पुलिस वालों को भी ले आना उसने विक्रांत से शादी में आने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की थी जिया का इस तरह का मैसेज देखकर विक्रांत का दिल खुश हो गया वो सोचने लगा कि मैं सिर्फ जिया को एक दो बार ही मिला हूँ और मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प भी की है लेकिन फिर भी वो मुझे इतने प्यार से बुला रही है भले ही विक्रांत पिछले जन्म में जिया से प्यार करता था लेकिन अब वो सिर्फ एक दोस्त मानता है जिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके खुश थी तो विक्रांत को भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी जिया के लिए बहुत खुश था उसने तुरंत ही जिया के मैसेज का रिप्लाई किया थैंक यू एंड कॉन्ग्रेट्स मैं जरूर आऊंगा मैसेज करने के बाद विक्रांत सोचने लगा कि क्या पता आज दिन भर में ये केस भी सॉल्व हो जाए तो फिर तो सारा काम ही खत्म फिर पार्टी में मजा आएगा तभी विक्रांत के फोन में फिर से बीप की आवाज हुई जिया ने तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई किया था विक्रांत मैसेज खोलकर पढ़ने जा रहा था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा ये किसी अनजान नंबर की कॉल थी विक्रांत ने फोन उठाया उधर से आवाज आई विक्रांत पुलिस स्टेशन के दक्षिण दिशा वाली गली में तुरंत पहुंचो यहाँ तुम्हारी जरूरत है